नमस्कार आज हम चर्चा कर रहे हैं एक सुनहरे नगमे की और ये नगमा है फिल्म बसंत बहार का एक गीत जमाना था सन 1956 का जब एक फिल्म आई बसंत बहार जिसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपनी पैच बनाई संगीत के पंडितों से लेकर टेबल डेस्क कनस्तर पर मन के रंगों से गाने वालों तक एक समान लोकप्रियता अर्जित की इस फिल्म ने कारण था गीत संगीत गायकी का विशाल गगन जिसमें हर एक की पसंद के रंग भरे थे बहरहाल उस गीत का मुखड़ा जो आज चर्चा का आधार बना इसे गाया मन्ना डे और लता मंगेशकर ने सहजता सरलता और स्वर माधुर्य से इस गीत की इबारत पर गौर कीजिए चुप चुप रह के लुटाया दिल तुझसे एक सुख पाया मैंने सौ दुख कह के एक सुख पाया मैंने सौ दुख कह के चुप चुप रह तूने ये क्या किया सैया कौन से गगन के चले दिल ये मेरा लेके चले दो नैना तेरे पावदे को गोरी दो नैना तेरे पावदे नैना

इसे सुनकर लगता है कि जैसे शैलेंद्र ने फूलों के महक हवा की चंचलता और इंद्रधनुष के सारे रंग अपनी स्याही में डाल दिए शब्द रंग बिखेरते हैं हवा बह जाती है कुदरत की सारी खूबसूरती का नज़ारा होने लगता है रचना के इस रंग को शंकर जयकिशन बेहद करीने से सजाते हैं और इतनी सरल सहज मेलोडी रचते हैं कि कैनवास रंगों से भर जाता है अल्हड़ता सरलता और समर्पण के अलग अलग फूल एक गुलदस्ते में सजे नजर आते हैं किशोर उम्र के प्रेम में जो अनुभूतियाँ होती हैं उनकी कोमल अभिव्यक्ति नजर आती है इस बिंदु पर शंकर जयकिशन मन्ना दा और लता जी को इतने नज़दीक से टच देते हैं कि बंदिश इन्हें गाने लगती है लता जी और मन्ना दा ने रिकॉर्डिंग के पहले जो मेहनत और तैयारी की उसे महसूस किया जा सकता है रचना की शब्दावली और उसमें बसी आत्मा को स्पर्श करने के बाद जो प्रस्फुटित होता है वहाँ गायकी की सफलता का चरम बिंदु होता है लता मंगेशकर और मन्ना डे इस बिंदु को जितने सहज और सरल ढंग से स्पर्श करते हैं वही बेस बन गया जिस पर इतनी खूबसूरत मेलोडी का गगन चूमता भवन तैयार हो गया गायक में स्वर ताल लय माधुर्य का अद्भुत संयोग जब भाषा के तल से स्पर्श कर सामने आता है एक विलक्षण संसार जन्म लेता है यहाँ मन्नादा और लता भी यही सब कुछ करते हैं अगर कोई पूछे कि इस बंदिश में श्रेष्ठ कौन <laughs> तो इसका उत्तर होगा हवा पानी में श्रेष्ठ कौन और प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाएगा को सुने